सभय सिन्धु गहे पदप्रभु केरे क्षमभुनाथ सब मेरे गगन समीर अनल जल इन कयनाथ सहज जल करणी प्रेरित मा या उपजा हे तु सब ग्रन्थ निगार प्रभु आयसु जहि कहजस अही सोतहि भहे रहे दही समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है सब ग्रंथों ने यही गाया है जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है प्रभु फल के मोह सिख दी मर जादा पुणे तुम्हारे के ढोल गवार शूद्र सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रभु प्रताप में जाब सुखाए उतर कटकुन मोर बड़ाए प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाए करूँ सुबेगी जो तुम्हें सुहाई प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी इसमें मेरी बड़ाई नहीं है मेरी मर्यादा नहीं रहेगी तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता ऐसा वेद गाते हैं अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं सुनत विनीत ते कह कृपाल मुस्काई जहि विधि उतरे कपि कटको तात सुख हो पाए समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ नाथ नील नल कपि दौ भाये नरकाये ऋषि पाये तिनके परस किये गिरि भारे तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे मै पुल उर धरे प्रभु प्रभुताए करे हम बलुअनु मान सहाय यही विधिनाथ पयोधि बधाए दही यह सुजसु लोकति गाय समुद्र ने कहा हे नाथ नील और नल दो वानर भाई हैं उन्होंने लड़क लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बन के बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए यही सरमम तर तट बासे हतहुनाथ खल नर अघरासी सुन कृपाणु सा गर मन पेरा तुरत हरे राम रन धीरा देखि मबल हु सभारि हरसिपयो निधि तकल सुखारि कहे प्रभु ही सुनावा चरण पा सिधावा निज भवन गण सिन्धुशी यः यह भायौ यः चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायव सुखभवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना तजि सकल आस भरोस गावई सुनहि संतत सठ बनाओ इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया समुद्र अपने घर चला गया श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं अरे मूर्ख मन तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जलयान श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है जो इसे आदर से ही सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को उतर जाएंगे इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकलकलिश कलिकलुषविध्वंसिने पंचम सोपान समाप्त कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह पांचवा सोपान समाप्त हुआ सुंदर कांड समाप्त